मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ओह ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से सलाम करते हैं हम दोनों हाथों से उनको दोस्तों सलाम करते हैं हम दोनों हाथों से उनको दोस्तों सलाम करते हैं हम दोनों हाथों से उनको दोस्तों सलाम करते हैं हम दोनों हाथों से उनको दोस्तों दिल में तो वकार है अपने अरमी से दिल में तो वकार है अपने अरमी से ये मेरा इकरार है अपने अरमी से हो ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से है मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से हक ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से परवाह नहीं करते अपनी जान की सरहदों पर परवाह नहीं करते अपनी जान की सरहदों पर परवाह नहीं करते अपनी जान की सरहदों पर हम भी ताबेदार है अपने आर्मी से हम भी ताबेदार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी हम्म। से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से आर्मी तो हमेशा मेरी जा मेरी जिगर है पाक आर्मी तो हमेशा मेरी जान मेरी जिगर है बिल्कुल पाक आर्मी तो हमेशा मेरी जान मेरी जिगर है हमको तो इतबार है अपने आर्मी से हमको तो इतबार है अपने आर्मी से मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह मेरी जान है जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह मेरी जान है जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह मेरी जान है जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह मेरी जान है लब पे ये गुफ्तार है अपनी आर्मी से लब पे ये गुफ्तार है अपने आर्मी से ओ ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से मानते हुए अरमनी जब तक दुनिया में जिंदगी है मानते हुए अरमनी जब तक दुनिया में जिंदगी है मानते हुए अरमनी जब तक दुनिया में जिंदगी है दिल से वफादार है अपने आर्मी से दिल से वफादार अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ओह ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से मुझे बहुत प्यार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है अपने आर्मी से ये मेरा इकरार है से ये मेरा इकरार है अपने पाकार से